विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्ति द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए जाते हैं अतः मनुष्य को कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह पाखंडी शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले बिडालवर्ती दम्भी शट युक्तिवादी तीर्थ नंदित दिगंबर तथा अनन्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे नंगे अथमुंडे और विष्टा भोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करें सब धर्मों में विद्या ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के वचन ही प्रमाण है जो उनके विपरीत बर्ताव करता वह निश्चय नरक में गिरता है पितरों का तर्पण करें भिखारी को भीख दे सब प्राणियों पर दया करें तथा नर्मदा जी की महात्म्य कथा का चिंतन करें यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है जो आदि मध्य और अंत से रहित स्वभाव से सबके स्वामी सर्वज्ञ और परिपूर्ण है वे भगवान शिव शिव शास्त्रों द्वारा ज्ञान योग्य ज्ञान योग्य उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वह संशय रहित है एवं संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि है वह संशय रहित एवं जो सर्वज्ञ है संपूर्ण स्वभावत निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित है वे कल्याणमय है शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं भगवान शिव की आज्ञा के बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है यदि कहीं की प्रगति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं क्योंकि वह जड़ है यदि कहा जाए तो कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं यज्ञ है परमाणु आदि जो प्राकृत तत्व है वो सब अचेतन है अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना ना तो स्वयं रचना कर सकते हैं ना देख ही सकते हैं जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणत होती उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकते जैसे यह घोर संसार समुद्र अनादि काल से चला आ रहा है उसी प्रकार इस संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि हैं जैसे वो सभी स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाली है उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधन का नाश करने वाले मानने गए हैं जैसे वे वेद के बिना रोगी कलेश उठाते हैं उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाते हैं अतः अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव ही सबके खिलाता है त्राता है उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव जी का शिव का ज्ञान अभ्यास करते उन्हें अवश्य ज्ञान होता है नरश्रेष्ठ ऐसा जानकर शिव स्वरूप रूपा नर्मदा देवी का आश्रय बहुत ही बहुत ही लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न विद्य ध्येय तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मण को आदर पूर्वक देने चाहिए अनाथ अत्यंत वृद्ध विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ गृह दान करता अथवा उसके लिए अमर कंटक पर सब और सुंदर सुंदर दिव्य भक्त भुवन निर्माण कराता वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का अधिक साधन होता है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता वह सब पापों से मुक्त होता है शिवलोक की उत्कृष्टता गोसेवा का महत्व दान की महिमा तथा नर्मदा तट पर दान एवं शिव ध्यान का महत्व युधिष्ठिर जी बोले भगवान गोलोक कैसा बताया गया है किस कर्म से उसकी प्राप्ति होती है और कौन-कौन से वहां निरंतर रहते हैं मार्कंडेय जी ने कहा सब लोकों से ऊपर महादेव जी का लोक है वह परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है वहीं वृषभ रूप से धर्म भी विद्यमान है जहाँ उनके पति वृषभ रूप धर्म है वहीं गौ माताएं भी निवास करती हैं और उसी लोक में देवता और असुर से भी पूजित नर्मदा देवी भी विद्यमान हैं उन्हीं के जल से गोय बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं ब्रह्मा विष्णु गो उमा सहित महेश्वर देवता ऋषि पितृगण मातृगण तथा अनन्याय लोको सहित शिवलोक और नर्मदा लोक भी इसी लोक के गोलोक के अंतर्गत हैं रुद्रलोक के जो गुण हैं उन्हीं गोलोक के हैं नंदा भद्रा सुभद्रा सुशीला तथा सुरभि ये पांच गोमाताएं शिवलोक से प्रकट हुई हैं छठी नर्मदा देवी भी वहां से संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई हैं महाराज ये सब लोक माताएं अपने गुणों द्वारा इस संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती रहती हैं शिवलोक से प्रकट हुई गोए यहाँ आकर घास खाती हैं वन में चरती हैं निर्मल जल पीती हैं शरीर को पवित्र करती और मधुर मधुर दूध देती है जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर की शोभा होती है उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गौ से जिनका घर सुशोभित होता है उनके शरीर में पाप कहां से रह जाता है जो लोग ओमकार ओमकार नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते उनका पुनः इस संसार सागर में जन्म नहीं होता जो घास और जल देकर गो के प्रति परम भक्ति भाव रखते वे उन गुणों के प्रसाद से शिवलोक में जाते ये गो माताएं सदा अनुकूल रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली हैं जो इन कल्याणमयी गो की रक्षा करते वे शिवलोक में जाते हैं जो उत्तम विधि के साथ एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते वे निश्चय ही शिव के धाम को जाते भगवान शिव के निवास स्थान रूप तीर्थ में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते विशेषतः जो नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते वे ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोकों में विहार करते राजन इस प्रकार तुम्हें नर्मदा का मंगलमय अवतार बताया गया है युधिष्ठर जी बोले मुने अब मैं दान धर्म का विधान सुनना चाहता हूँ जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं उन्हें शिव धाम की प्राप्ति कैसे होती है मार्कंडे जी ने कहा राजन कमल बेलपत्र कुश और नर्मदा का जल इन सबको भगवान ब्रह्म जी ने सामान्य धर्म का हेतु बताया है ये सर्व सुलभ सभी धर्म प्राण पुराण श्रुतियां ये श्रद्धा और विश्वास से ही पावन होते हैं पुराणों और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं जो शिव जी का ध्यान करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक रुई भरा हुआ बिस्तर कटी सूत्र सहित लाल वस्त्र नवीन वस्त्र में लपेटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुवासित किया हुआ यह जो पवित्र देता है वह रुई के ऊन वस्त्रों में जितने तंतु होते और उन तंतुओं में जितने रोम होते उतने ही सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठ होता है जो भगवान शिव के उद्देश्य से शिव भक्तों में नैवेद्यता अथवा शाक मूल फल आदि अर्पण करता वह तंडुल फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है जो शिव भक्तों को दही भात से भरा हुआ सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करता है वह शिव धाम में निवास करता है जो अपनी शक्ति के अनुसार शिव व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराता वह भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है जो भक्ति पूर्वक शिव की पूजा कर करते वे शिवलोक में जाते हैं इस प्रकार प्रसन्नवश शिवलोक गोलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया गया है जहाँ शिव भक्त पुरुषों का निवास है जो ज्ञान योग से शांत चित्त हो परम शिव का जप करते हैं वे सब दुखों से मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार सत्वगुण और प्रगति इन आठ आवरणों से युक्त शिवलोक है वहाँ दस हजार सूर्य के समान कांतिमान परम स्थान है ज्ञान और ध्यान में संलग्न शांत भिक्षा अन्नभोजी जितेंद्रिय भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले और जिनके पाप दग्ध हो गए हैं ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही उस परम धाम शिवलोक को पाने के लिए अधिकारी है जिस सत्य रूप लोक में शुद्ध चित्त एवं अविद्या आदि के कलेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते उसी उत्तम पद को नर्मदा जी का सेवन करने वाले मनुष्य भी पा लेते हैं जो नर्मदा के तट पर मेरे बताए अनुसार दान करते वे सब कुछ जानने वाले सर्वत्र जानने की शक्ति रखने वाले शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं जो शुद्ध कर्म में तत्पर रहते हैं वे परम ऐश्वर्य से संपन्न हुए अपनी इच्छा के अनुसार साकार या निराकार रूप में स्थित होते हैं संपूर्ण जगत के स्वामी पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंठ का यह दिव्य स्थान नित्य विशुद्ध अविनाशी एवं सदा एक रस रहने वाला जो लोग नर्मदा के तट पर रहकर शिव जी के ज्ञान का अभ्यास करते वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं जो एक दिन भी शिव का धर्म का पालन करते तथा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर होता है उसके धर्म का अंत नहीं होता